ये बात उसी रात तकरीबन आठ बजे की है मुंबई के हयात होटल में खालिद कुछ खास लोगों के साथ डिनर करने के लिए बैठा हुआ था ट्रेन ट्रेन खालिद का फोन अचानक से बज पड़ा हेलो हेलो बॉस कैसे हो अब टांग कैसी है तुम्हारी अभी डिनर एंजॉय कर रहे हो वाह काफी बड़े लोगों को इनवाइट किया है तुमने तो खालिद को इस आवाज को पहचानने में एक सेकंड भी नहीं लगा ओ विक्रांत तुम खालिद ने थोड़ा गुस्से भरी आवाज में कहा तुम मेरा सोने का कप लेकर भाग गए उसे जल्दी से जल्दी वापस कर दो वरना देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ अरे बॉस तुम तो नाराज हो गए मुझे तो लगा कि वो कब तुमने मुझे गिफ्ट किया है इसीलिए मैं लेकर आ गया था तुमने मुझे गिफ्ट नहीं किया था क्या चलो कोई बात नहीं लेकिन तुम तुम मुझे इस तरह से खोजने की कोशिश मत करो रुको पहले मैं तो देख लू तुम किसके साथ बैठे हुए हो विक्रांत ने ये जताते हुए कहा कि मानो वो उसे देख रहा है अच्छा तो बॉस आज रिसोटा खा रहे हो और बरी तो भी है साहब आज मैक्सिकन डिश भी खा रहे हैं आह क्या बात है स्पेशल लोग स्पेशल डिश अच्छा ये मैडम कौन है ये तो ह्यूमन राइट्स की कोई राइटर लग रही है और ये ये मोटा मोटा तो कोई पब्लिक सेक्टर का ऑफिसर है ना ये तो पतला वाला आदमी ये ये तो ये तो मुंबई कोर्ट का जाना माना वकील है ना इसका नाम राहुल माथुर है ना वाह इतना खर्चा पार्टी शराब बॉस लग रहा है तुम्हारा इरादा ठीक नहीं है क्या प्लान कर रहे हो विक्रांत ने खालिद को जो जो बताया वो सब सच था इस वक्त खालिद ने इन लोगों को इसीलिए बुलाया था ताकि अपने ऊपर चल रहे केस को खत्म करवा सके और वो विक्रांत को सबक सिखाने के लिए ही इन लोगों की मदद लेना चाहता था आज की उसकी मीटिंग इसीलिए हो रही थी ताकि वो विक्रांत को रास्ते पर ला सके लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि ये मीटिंग इस वक्त होटल के एक प्राइवेट रूम में हो रही थी इस वजह से खालिद काफी परेशान था कि आखिर विक्रांत ये सब कैसे देख रहा है और वो फोन पर ठीक वैसा ही बता रहा है जैसा यहाँ पर हो रहा है खालिद चारों तरफ देखने लगा कहीं कोई सीसीटीवी कैमरा तो नहीं लगा है खालिद ने अपनी निगाहें ऊपर की ये देखने के लिए कि कहीं छत में तो कोई हिडन कैमरा नहीं लगा है जहाँ से विक्रांत उसे देख रहा है अरे अरे छत में क्या देख रहे हो छत में कोई कैमरा नहीं लगा है <laughs> खालिद को लगा कि शायद विक्रांत ने कहीं टेबल के आसपास कोई हिडन कैमरा रखा है इसीलिए वो आसपास के सभी फर्नीचर और खिड़की दरवाजों की तरफ देखने लग गया एक हाथ से उसने फोन पकड़ रखा था और चारों तरफ नजरें दौड़ाकर ये जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर विक्रांत उसे देख कहाँ से रहा है अरे बॉस अभी तुम इतने चालाक नहीं हुए हो जो तुम सीसीटीवी कैमरे को ढूंढ लोगे अच्छा चलो मैं तुम्हें हिंट भी देता हूँ वो जो लोग तुम्हारे साथ बैठे हुए हैं उन्हीं में से एक के पास है कैमरा अब जाओ पता लगा लो विक्रांत के इतना कहते ही खालिद अपने अगल बगल बैठे सभी लोगों को एक एक करके घूर घूर कर देखने लगा वो सभी के कपड़ों को ध्यान से देखकर उसमें छुपे कैमरे को तलाशने की कोशिश कर रहा था खालिद की इस हरकत से उसके करीब बैठे लोग काफी असहज हो रहे थे वह पागलों की तरह उनके कपड़ों में झांकने की कोशिश कर रहा था <laughs> तुम तुम तो सच में उन लोगों को चेक करने लग गए <laughs> तेरी तो खालिद दांत पीसते हुए वहां से उठकर बाहर निकल गया जैसे ही वो प्राइवेट रूम के बाहर आया उसने कहा साले तू एक बार मेरे सामने आ जा फिर फिर दिखाता हूँ तुझे किधर है तू बोल कहाँ है तू <laughs> अरे बॉस तुम तो मुझे ढूंढते ढूंढते बाहर चले आए मुझे ढूंढ रहे हो खालिद रूम से निकलकर वॉशरूम की तरफ जाने लगा अब जैसे जैसे खालिद कदम बढ़ाते हुए वॉशरूम की ओर जा रहा था और जो जो चीजें खालिद के सामने आ रही थी विक्रांत फोन पर हर चीज की कमेंट्री कर रहा था वॉशरूम के अंदर घुसते ही विक्रांत ने फोन पर कहा अरे तुम्हारा पेट खराब हो गया है क्या मेरी आवाज सुनकर तुम्हारी हालत खराब हो रही है <laughs> तेरी तो साले मिल एक बार मेरे सामने आ खालिद ने बेहद गुस्से में कहा अभी तो मेरी सिर्फ आवाज सुनकर तुम्हारी पैंट गीली हो गई है अब अगर सामने आ गया फिर तो ना जाने क्या हालत होगी विक्रांत की बातें सुनकर खालिद ने चिड़कर फोन रख दिया उसने फोन को जेब में डाल लिया और फिर आराम से वॉशरूम के अंदर चला गया लेकिन अभी भी उसका फोन लगातार बज रहा था उसे पता था की ये विक्रांत ही फोन कर रहा है इसलिए वो जानबूझकर फोन नहीं उठा रहा था उसकी पेंट की जेब में पड़ा फोन लगातार रिंग हुए जा रहा था आखिर में उसने खींच कर फोन उठा ही लिया जैसे ही उसने फोन उठाया विक्रांत ने फिर से कमेंट्री स्टार्ट कर दी बॉस तुम्हारी पीठ में नीचे की साइड में तो बहुत बड़ा तिल है खालिद हड़बड़ाते हुए अपने शरीर को ढकने की कोशिश करने लग गया अरे ना ना ना ना ये मत करो गुरु तुम तो मुझसे कुछ नहीं छिपा सकते <laughs> खालिद ने चिढ़कर फिर से फोन रख दिया इस बार उसने फोन को स्विच ऑफ कर दिया और फिर से जेब में डाल लिया साजिद जब वॉशरूम से बाहर निकला तो वहाँ पर देखा कि एक आदमी बाथरूम के भीतर साफ सफाई का काम कर रहा था खालिद को लगा कि शायद वो सफाई वाला आदमी विक्रांत का जासूस है वही सारी बात विक्रांत तक पहुँचा रहा है खालिद तेजी से कदम आगे बढ़ाता हुआ उस आदमी के करीब पहुंचा और उसे ध्यान से देखने लग गया क्या हुआ साहब ऐसे क्यों देख रहे हो मेरे को खालिद ने उसका कॉलर पकड़ते हुए कहा कहा है वो कहा है विक्रांत बता खालिद ने उस सफाई वाले आदमी का कॉलर पकड़ते हुए कहा क्या क्या क्या मुझे नहीं पता साहब कौन विक्रांत सफाई वाले ने डरते हुए जवाब दिया जब खालिद को लगा कि इसका सच में विक्रांत से कोई कनेक्शन नहीं है तब जाकर उसने उसका कॉलर छोड़ा और फिर सीधे प्राइवेट रूम में मीटिंग के लिए आ गया अभी वो अपनी चेयर पर बैठा ही था कि उसके बगल में बैठे आदमी का फोन बच पड़ा उसने फोन उठाया और दो मिनट तक बात करने के बाद फोन को खालिद की तरफ बढ़ाते हुए कहा ये लीजिए आपका फोन खालिद शॉक्ड रह गया मेरा फोन इसके नंबर पर कैसे आ सकता है उसने फोन हाथ में लिया और कान पर लगाकर बोला हेलो क्या खालिद बॉस तुम ऐसे करोगे फोन स्विच ऑफ कर दिया और और उस बेचारे सफाई वाले से क्या पूछ रहे थे तुम खालिद को यकीन नहीं हो रहा था कि विक्रांत उसके मेहमान के पास भी फोन कर सकता है और और उसे ये नंबर कहाँ से मिला इनका विक्रांत की आवाज ही खालिद के कानों में चुप रही थी कहाँ है तू एक बार सामने आ जा बस बस एक बार <laughs> विक्रांत की हंसी सुनकर खालिद का खून उबल पड़ा अगर अभी उसे विक्रांत कहीं मिल जाए तो उसे कच्चा चबा जाए गुस्से के मारे खालिद अपने हाथ में पकड़े हुए फोन को मसल देना चाह रहा था लेकिन ये फोन उसका नहीं था सो उसने तुरंत ही फोन कट करके अपने दोस्त को वापस कर दिया इसके बाद वो तुरंत ही वहां से उठकर होटल के बाहर आ गया बाहर आते ही उसने अपने आदमी को गाड़ी निकालने का इशारा किया जैसे ही खालिद गाड़ी में सवार हुआ तुरंत ही उसके ड्राइवर ने खालिद को अपना फोन पकड़ाते हुए कहा साहब आपके लिए फोन है आपसे कोई बात करना चाहता है फोन कान में लगाते ही फिर से खालिद के कानों में विक्रांत की आवाज गूंज उठी <laughs> बड़ी जल्दी मीटिंग खत्म कर दी अब घर जा रहे हो वैसे तुम्हारी कार बहुत अच्छी है बॉस कितने में ली है हाँ? और और ये तो बिल्कुल नई लग रही है कब खरीदा तुमने इसे खालिद अपने ड्राइवर की तरफ शक भरी नजरों से देखने लगा कहीं यही विक्रांत का सीसीटीवी कैमरा नहीं है तुम ड्राइवर को शक भरी नजरों से क्यों देख रहे हो खालिद विक्रांत के इतना कहते ही खालिद का शक और गहरा हो गया उसने पीछे से ही अपने ड्राइवर का कॉलर पकड़ लिया बता बता कहाँ है वो तुझे कैसे मिला ड्राइवर भी खालिद के इस तरह के व्यवहार से शॉक्ड रह गया काका कौन साहब किसकी बात कर रहे हैं ये गलत बात है खालिद तुम तुम अपना गुस्सा किसी और पे निकाल रहे हो उसे कुछ नहीं पता विक्रांत की कड़क आवाज खालिद के कानों में गूंज उठी <laughs> चुप चुप चुप मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ तुझे अब चुप हो जा वरना वरना वरना क्या करोगे बॉस हाँ? <laughs> विक्रांत उसे खिजाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था खालिद के पास कोई जवाब नहीं था सो उसने चिड़ते हुए फिर से फोन कट कर दिया फिर उसने फोन अपने ड्राइवर के हाथ में पकड़ा दिया लेकिन फिर से उसका फोन बजने लगा साहब ये फोन भी उसी नंबर से है क्या करूं ड्राइवर ने डरते डरते पूछा मत उठाओ बजने दो और फोन स्विच ऑफ कर दो खालिद हैरान होकर अपना सिर पकड़कर बैठा था उसके सिर में दर्द उठना शुरू हो चुका था घर पहुंचते वो सीधे गाड़ी से उतरकर अंदर की तरफ भागा उसकी पत्नी ने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था और वो तेजी से खालिद की तरफ ही बड़ी चली आ रही थी उसके हाथ में फोन था उसने तुरंत ही खालिद को फोन पकड़ाते हुए कहा कोई आपसे बात करना चाहता है बॉस तुम्हारी बीवी तो बड़े कमाल की है क्या माल लग रही है तू तो बड़ा लक्की है रे इतनी मस्त बीवी कहाँ से लाया तू फोन कान में लगाते ही विक्रांत के ये शब्द खालिद के कानों में गूंज पड़े छुप कर साले खालिद ने चिल्लाते हुए कहा और पूरी ताकत से फोन को जमीन पर पटक दिया एक पल में ही फोन के टुकड़े हो गए खालिद का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था फोन टूटने का उसे जरा भी अफसोस नहीं था वो तुरंत ही वहां से आगे बढ़ा तभी उसकी बेटी भागते हुए उसके पास आई पापा ये आपके लिए फोन है कोई आपसे बात करना चाहता है अब तो खालिद का सिर ही चकरा गया वो अपना सिर पकड़कर जमीन पर बैठ गया चेहरा पसीने से लथपथ हो चुका था